आपने एक चीज ये बताया विष्णु जी जी कि यहाँ पे भारत सेवा आश्रम की जो बिल्डिंग है वो पूरी ढह चुकी है लोग इसमें कितने लोग यात्री रहे होंगे हादसा बताते हैं कि दिन के टाइम का हुआ है तो इसमें कितने लोग होंगे कैसे इसमें लोगों की जाने गई बताएं ये शाम को सर एक्चुअल में वो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जी उसमें लोगों ने कहा कि मतलब इसमें कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ वहाँ पे लोग आश्रय लेने गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ जो वहाँ पे कर्मचारी थे सर हम्म। तो उसका भी सर मतलब दस मिनट में मतलब लगा लो बारह सौ आश्रम कम से कम ऊंचाई बहुत थी उसकी उसके भी तीन गुने ऊपर पानी था सर पानी आ सर हाँ। उसका तो दो मिनट में पता नहीं चला सौ आश्रम कब गए सौ आश्रम के पीछे गर्म पानी का कुंड है गर्म पानी के पीछे काली कमली हम्म, का हुआ है धर्मशाला जी वहाँ से वहाँ से आप पूरा इधर बस पार्किंग तक जिसमें से हजार गाड़िया बह चुकी हैं और सारे लोग मतलब तितर बितर होके मतलब भगदड़ में कम से कम सौ आदमी तो भगदड़ में मरे वहाँ पे